अनोशो टॉक ज्यो था त्यों ठहराया नंबर एट दूसरा प्रश्न यह जीवन क्या है इस जीवन का सत्य क्या है कहां कहां नहीं खोजा लेकिन हाथ खाली के खाली पुरुषोत्तम खोजोगे तो हाथ खाली ही रहेंगे और कहां कहां खोजोगे तो खाली ही रहेंगे कहां कहां खोजने का मतलब बाहर बाहर खोजना काशी में कि काबा में कि कैलाश में गीता में कि कुरान में कि बाइबल में कहते हो कहां कहां नहीं खोजा इसलिए तो खाली हो झांकना है अपने भीतर कहां कहां नहीं खोजना सब खोज छोड़ दो बैठ रहो अपने भीतर ठहर जाओ ज्यों था त्यों ठहराया उस स्थिरता में उस स्थिति प्रज्ञ की अवस्था में उस परम स्वास्थ्य में स्वास्थ्य का अर्थ है स्वयं में ठहर जाना स्वस्थ स्वामे स्थित हो जाना तुम पाओगे और मजा यह है उसे ही पाना है जिसे पाया ही हुआ है उसे ही खोजना है जो मिला ही हुआ है तुम उसे लेकर ही आए हो वो तुम्हारे जन्म के साथ आया है जन्म के पहले भी तुम्हारा था अब भी तुम्हारा है मृत्यु के बाद भी तुम्हारा होगा मगर तुम भागते फिरो सारी दुनिया में तो स्वभावता चूकोगे क्योंकि भीतर तो झांकने का अवसर ना मिलेगा अब तुम पूछते हो यह जीवन क्या है यह प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि तुमने जीवन को भीतर से जी के नहीं देखा बुद्धि में बस सोच रहे हो कि जीवन क्या है जैसे कि कोई उत्तर मिल जाएगा जीवन कोई ऐसी चीज नहीं है कि बुद्धि उत्तर दे दे जीवन तो जीने में है जीवन कोई वस्तु नहीं है इसका विश्लेषण नहीं हो सकता कि टेबल पर रख के और इसका तुम विश्लेषण कर डालो कि परख नली में रख के और इसकी जांच पड़ताल कर लो कि तराजू पे तोल लो कि गजों से नाप लो ये जीवन तो तुम्हारे भीतर है तुम जीवित हो और पूछते हो जीवन क्या है तुम सुगंधित हो और पूछते हो सुगंध क्या है तुम चैतन्य हो और पूछते हो जीवन क्या है यही है जीवन जो तुम हो पूछते हो जीवन का सत्य क्या है कहां कहां नहीं खोजा खोजते रहो जन्म जन्म से खोज रहे हो खोज खोज के तो खोया है अब खोज छोड़ो मैं यहां खोज छोड़ना सिखाता हूं बैठ रहो मौन हो जाओ शब्दों में मत तलाशो शास्त्रों में मत तलाशो वहां शब्द ही पाओगे और शब्द सब थोथे अपने शून्य में विराजो और उसी शून्य में आविर्भाव होगा और जिसे कहीं नहीं पाया उसे अपने घर में पाओगे वो पहले से ही तुम्हारा अतिथि हुआ बैठा है अतिथि भी क्यों कहो आतिथे वही तुम्हारा मालिक है जिसकी तुम खोज में चले हो जो खोजने चला है उसे ही खोजना है वो दिल नसीब हुआ जिसको दाग भी न मिला मिला तो गम कदा जिसमें चिराग भी न मिला गई थी कहके मैं लाती हूं जुल्फे यार की बू फिरी तो बादे सबा का दिमाग भी न मिला असीर करके हमें क्यों रिहा किया सयाद वो हम सफीर भी छूटे वो बाग भी न मिला भर आए महफिले साकी में क्यों ना आंख अपनी वो बेनसीब हैं खाली अयाग भी न मिला चिराग लेके इरादा था वक्त ढूंढेंगे सबे फिराक थी कोई चिराग भी न मिला खबर को यार की भेजा था गुम हुआ ऐसा हवा से रफ्ता का अब तक सुराग भी न मिला जलाल बागे जहां में वो अंधलीब हैं हम चमन को फूल मिले हमको दाग भी न मिला भटकोगे बाहर तो यही दशा होगी भर आए मैं फिले साकी में क्यों ना आंख अपनी वो बेनसीब है खाली अयाग भी ना मिला खाली प्याला भी नहीं मिलेगा शराब से भरा हुआ प्याला तो बहुत दूर खाली प्याला भी ना मिलेगा चिराग लेके इरादा था वक्त ढूंढेंगे शबे फिराक थी कोई चिराग भी ना मिला यह बात को चिराग लेके ढूंढने की नहीं पुरुषोत्तम ढूंढने में ही लोग व्यस्त हैं ढूंढने में ही लोग परेशान हैं ढूंढने में ही लोग चूक रहे हैं राबिया एक सूफी फकीर स्त्री निकलती थी रास्ते से जिस रास्ते से रोज निकलती थी वहां एक दूसरा फकीर हसन मस्जिद के सामने हमेशा बैठा रहता आकाश की तरफ हाथ उठाए झोली फैलाए चिल्लाता था हे प्रभु द्वार खोलो राबिया ने कई बार इस हसन को यूं मस्जिद के सामने प्रार्थना करते देखा था एक दिन उससे न रहा गया बड़ी हिम्मत की औरत थी जाके हसन को झकझोर दिया और कहा कि चुप रहे बंद करिए बकवास मैं तो उससे कहती हूं दरवाजा खुला है और तू नाक चिल्ला रहा है कि दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो तू अपनी धुन में मस्त दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो इसी में लगा दरवाजा खुला है आंख खोल बकवास बंद कर दरवाजा कभी बंद नहीं था एक सम्राट का वजीर मर गया उसे एक वजीर की जरूरत थी कैसे वजीर चुना जाए सारे देश में खोजबीन की गई तीन बुद्धिमान व्यक्ति राजधानी लाए गए अब राजा को चुनना था इन तीन में से कोई एक एक अलमस्त फकीर से उसने पूछा कि आप ही कोई रास्ता बताओ कैसे चुनू तीनों मां बुद्धिमान है बड़े मेधावी हैं तय करना मुश्किल की कौन किससे ज्यादा है एक से एक बढ़के हैं सब मैं बड़ी उलझन में पड़ गया हूं किसको चुनूं किसको छोड़ू तीनों चुनने जैसे रखते हैं लेकिन आदमी तो एक ही चाहिए फकीर ने उसे एक तरकीब बताई और वो तरकीब काम आ गई उन तीनों को एक कमरे में बंद किया गया और उन तीनों से कहा गया सम्राट खुद गया कमरे में उसने कहा कि मैं दरवाजा बंद करके बाहर जा रहा हूं ये दरवाजे पर ताला नहीं है देखो ताले की जगह गणित के अंक लिखे हुए ये एक पहेली है इस पहेली को जो हल कर लेगा वो इस दरवाजे को खोलने में समर्थ हो जाएगा तो तुम ये पहेली हल कर लोगे तो जो पहले निकल आएगा पहेली हल करके वही वजीर हो जाएगा तीनों को छोड़ के दरवाजा बंद करके सम्राट बाहर बैठ गया दो तो एकदम से हिसाब किताब लगाने में लग गए आंकड़े लिखे उन्होंने और बड़ी गणित के काम में लग गए और एक कोने में जाके आंख बंद करके बैठ गया उन दोनों ने उसकी तरफ देखा कि ये पागल क्या कर रहा है अरे ये समय आंख बंद करके बैठने का है हल कैसे होगी पहली पर उन्होंने सोचा अच्छा ही है कि एक प्रतियोगी खत्म हुआ वो तो अपनी धुन में मस्त वो पहली ऐसी थी कि हल ना हो वो पहली तो हल होने वाली थी नहीं वो लगे रहे पहली में उलसते गए उलसते गए जाल बड़ा होता गया और वो आदमी बैठा रहा चुपचाप बैठा रहा एकदम से उठा उन्हें पता ही नहीं चला कि वो आदमी कब बाहर निकल गया वो दरवाजा बंद था ही नहीं वो सिर्फ अटका था वो आदमी शांत बैठा रहा शांत बैठा रहा उसने क्या किया वो तो सिर्फ मौन बैठा उसने सारे विचार अलग कर दिए उसने तो ध्यान किया और ध्यान की एक अद्भुत खूबी है कि दृष्टि निर्मल हो जाती दृष्टि पारदर्शी हो जाती अंतर्दृष्टि खुल जाती अचानक उसे भीतर से बोध हुआ कि दरवाजा अटका है पहली सब शरारत है पहली उलझाने का ढंग है वो उठा और उसने कहा सबसे पहले तो ये देख लेना चाहिए कि दरवाजा बंद भी है या नहीं फिर पहली हल करने में लगना वो उठा उसने दरवाजा हाथ लगाया कि दरवाजा खुल गया वो बाहर निकल गया वो दोनों तो उलझे ही रहे पहल सुलझाने में जो सुलझने वाली थी ही नहीं उनको तो तब नींद टूटी जब सम्राट उस आदमी को लेके भीतर आया और उसने कहा भाइयों अब हिसाब किताब बंद करो जिसको बाहर निकलना था वो निकल चुका है वो वजीर चुन लिया गया अब तुम क्या कर रहे हो अपने घर जाओ उन्होंने कहा वो निकला कैसे क्योंकि वो तो सिर्फ आंख बंद किए बैठा था सम्राट ने कहा वो फकीर ने भी मुझसे कहा था कि उन तीनों में जो ध्यान करने में समर्थ होगा वो बाहर आ जाएगा जो गणित बिठाने में बैठेंगे वो अटक जाएंगे जो तर्क लगाएंगे वो भटक जाएंगे क्योंकि ये दरवाजा यूं है जैसे जिंदगी जिंदगी कोई गणित नहीं कोई तर्क नहीं जिंदगी बड़ा खुला राज है जियो मौन से शांति से परिपूर्णता से तो खुला राज है मगर उलझ सकते हो तुम प्रेम को जानने का एक ढंग है प्रेम में डूबो लेकिन स्वभावता जो होशियार आदमी चालबाज आदमी वो कहेगा पहले मैं जान तो लू कि प्रेम क्या है फिर डूबूंगा बस चूकेगा फिर जिसने सोचा कि पहले जान लू प्रेम क्या है कैसे जानेगा प्रेम प्रेम करके ही जाना जाता है और तो जानने का कोई उपाय नहीं यह है कोई उपाय मिठास का अनुभव तो स्वाद में है और कोई उपाय नहीं प्रकाश का अनुभव आंख खोलने में है आंख बंद करके कोई बैठा रहे कहे कि आंख तब खोलूंगा जब मैं जान लूं कि प्रकाश क्या है भी या नहीं तब आंख खोलूंगा वो सदा ही आंख बंद किए बैठा रहेगा वो अंधा ही बना रहेगा अरे आंख खोलो तुम कहते हो जीवन क्या है और जीवित हो तुम जरा भीतर आंख खोलो जीवन धड़क रहा है कौन धड़क रहा तुम्हारे हृदय में ये धड़कन किसकी ये श्वासें किसकी ये कौन प्रश्न पूछ रहा है ये कौन खोजता फिरा है एक मुआम्मा है समझने का न समझाने का जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का हुस्न है जात मेरी इश्क सिफत है मेरी हूं तो मैं समा मगर भेस है परवाने का जिंदगी भी तो पसीमा है यहां लाके मुझे ढूंढती है कोई हीला मेरे मर जाने का अब उसे दार पे ले जाके सुला दे साखी यूं बहकना नहीं अच्छा तेरे मस्ताने का हमने छाना है बहुत दैरो हरम की गलियां हमने छानी है बहुत दैरो हरम की गलियां कहीं पाया ना ठिकाना तेरे दीवाने का किसकी आंखें दमे आखिर मुझे याद आती हैं दिल मुरक्का है छलकते हुए पैमाने का हर नफस उम्र गुजस्ता की है मैयत फानी जिंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का जिंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का जिंदगी को जानना है तो प्रतिपल अतीत के प्रति मरते जाओ अतीत को मत ढो अतीत के प्रति मरी जाओ जो नहीं हो गया नहीं हो गया अतीत के प्रति मर जाओ और भविष्य के प्रति बिल्कुल ही रस न लो इन दो चक्कियों के पार्ट के बीच ही जिंदगी दबी जा रही अतीत और भविष्य जिंदगी है वर्तमान जिंदगी है अभी और यहां और तुम कहीं कहीं भटक रहे हो अतीत की स्मृतियों में भविष्य की कल्पनाओं में ऐसी थी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए जिंदगी और चूक रहे हो उससे जैसी है जिंदगी हमने छानी है बहुत दैरो हरम की गलियां मंदिरों मस्जिदों की गलियां छानते रहो छानते रहो खाक मिलेगी कहीं पाया ना ठिकाना तेरे दीवाने का पाओगे नहीं कुछ भी ना पाओगे हूं तो मैं समा मगर भेस है परवाने का हुस्न है जात मेरी इश्क सिफत है मेरी हूं तो मैं समा मगर भेस है परवाने का भेष में ही मत भटक जाना यह शरीर तो सिर्फ वस्त्र है यह मन भी और भीतर का वस्त्र उसके भीतर शरीर और मन के भीतर जो साक्षी बैठा है वही हूं तो मैं समा वह ज्योति है अनंत शाश्वत कालातीत मगर भेष है परवाने का इस भेष को अगर देखोगे तो भूल हो जाएगी भेष कुछ है और जो भीतर छिपा है वो कुछ और न तुम देह हो न तुम मन हो तुम चैतन्य हो तुम सच्चिदानंद हो तुम्हारा नाम प्यारा है पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम का अर्थ समझते हो पुरुष कहते हैं पुर कहते हैं नगर को और पुरुष कहते हैं उस नगर के भीतर जो बसा है उसको पुरुष का संबंध स्त्री पुरुष से नहीं है स्त्री भी पुरुष है पुरुष भी पुरुष है पुरुष का संबंध है यह जो नगर है मन का और नगर बड़ा है मन का बड़ा विस्तार है इसका और यह देह भी कुछ छोटी नहीं इस देह की भी बड़ी आबादी बंबई की आबादी बहुत थोड़ी तुम्हारी देह में कोई सात करोड़ जीवाणु है बंबई की आबादी तो अभी एक करोड़ भी पूरी नहीं टोक्यो की आबादी है एक करोड़ टोक्यो से सात गुनी आबादी है तुम्हारी यह देह सात करोड़ जीवित अणुओं का नगर है विराट नगर है इस छोटी सी देह में बड़ा राज छिपा है और मन का तो तुम विस्तार ही ना पूछो जमीन से आकाश के कुलाबे मिलाता रहता है इसका फैलाव कितना है मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि एक एक मन की इतनी क्षमता है कि पृथ्वी पर जितने शास्त्र हैं जितने ग्रंथ हैं जितनी किताबें हैं जितने पुस्तकालय एक आदमी याद कर सकता है इतनी क्षमता है और थोड़ी बहुत किताबें नहीं सिर्फ ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी में इतनी किताबें हैं कि अगर हम एक किताब के बाद एक किताब को रखते चले जाएं तो जमीन के सात चक्कर पूरे हो जाएंगे इतनी ही किताबें मास्को की लाइब्रेरी में और दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हैं ये सारे पुस्तकालय भी एक आदमी याद कर सकता है इतनी क्षमता है इतना तुम्हारे मस्तिष्क का फैलाव हो सकता है और इस मस्तिष्क और इस देह के भीतर छिपा बैठा है जीवन चैतन्य पुरुष यानी इस पुर के भीतर जो बसा है वो जो इस पुर के भीतर केंद्र पर बैठा हुआ है और जब तुम इसे जान लेते हो तो पुरुषोत्तम हो जाते हो तब तुम साधारण पुरुष नहीं रह जाते उत्तम हो जाते हो तुम शिखर छू लेते हो मत खोजो कहीं और जो भीतर है उसे बाहर खोजोगे चूकोगे वहां है ही नहीं तो पाओगे कैसे दैरोहरम की गलियां छानते रहो खाक मिलेगी भीतर झांको स्वयं को जान लेना सब कुछ जान लेना है और जो स्वयं को नहीं जानता वो कुछ भी जान ले कुछ भी नहीं जानता एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए तुम एक को साथ लो बस ये जो तुम्हारे भीतर पुरुष है इसको ही पहचान लो इतना काफी और तुम्हारा जीवन रोशन हो जाएगा जगमगा उठेगा दीपावली हो जाएगी और ऐसे दिए जो फिर बुझते नहीं और ऐसी रोशनी जो फिर कभी धीमी नहीं होती जो प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर होती चली जाती इसी परम ज्योति का नाम परमात्मा है आत्मा का ही परम रूप परमात्मा है आज इतना